चुनाचे किसी मुतनफ़िस को कुछ पता नहीं है कि ऐसे लोगों के लिए आंखों की ठंडक का क्या सामान उनके अमाल के बदले में छुपा कर रखा गया है